हमारे परवर्तिकार हमें यहां से बाहर निकाल दीजिए फिर अगर हम दोबारा वही काम करें तो बेशक हम जालिम होंगे